ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है शॉर्टवेव 25 मीटर बैंड में ग्यारह हजार नौ सौ पांच के रहर्ज और श्रीलंका में एक सौ सात दशमलव तीन एफएम पर के गीत की फिल्म का नाम भाई अगर आज मीना कुमारी होती ना तो यूं बताती दिल अपना पर आए पर आकर हम 1960 के टॉप हिट गीतों की पायदाने रोक देते हैं और उस साल की छाओं के गीतों का सिलसिला एक बड़े ही मजेदार बड़े ही अनोखे गीत से शुरू करते हैं जिसमें यूं कहिए कि ए बी सी थी या यूं कहिए कि क ख ग अ ई उ थी भारत की उस जबरदस्त भाषा की जिसमें ढलकर कई चोटी के शायरों ने हमारे फिल्मी संगीत को शब्दों से संवारा वो भाषा है हिंदी की प्यारी बहनिया उर्दू तो बस आप सोचिए कि आप मेरे साथ बन गए हैं बच्चे और हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उर्दू अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो अजी बे जबर बे जर बे बे पेश बो अलिफ से अबन अबिन मन अबन अबौआ बे से बबन बबिन मन बबन बबौआ अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो तो होगा कोई दीवाना होगा कोई दीवाना अलिफ बड़ा अलिफ रे अलिफ तो अलिफ अपन अभिनब हुरमन अपन अबौवा ऐसे बचपन अभिनब मन बपन बबौवा अलिफ बड़ा अलिफ रे अलिफ तो गठर हूँ बोले बहन गठर हूँ बोले ना से नैया दाल से दिल की है से हाय डोले है से हाय डोले अलिफ जरा अलिफ रे अलिफ अलिफ अबन अजनबी मन अबन अबन न ते मन सभु कल पेशो कोतवाली नीम से मेहनत तो हाथों की और फे खुशहाली और फे खुशहाली अलग हाँ, अलग डालते तो और भाई यही उर्दू भाषा अब हमें इशारा कर रही है कि देखो देखो अब शुरू हो रहा है समय का रास्ता नंबर चार इस रास्ते पर सजा करती हैं मशहूर फिल्मी हस्तियों की बोलती हुई आवाजें अच्छा इस रास्ते पर बैरो भाइयों समय का कोई बंधन नहीं लगता हम चाहे कहीं से भी कभी से भी फिल्म स्टारों की पुरानी रिकॉर्डिंग्स ले आते हैं आपके लिए अब देखिए लव इन शिमला जिसका गीत अभी भी आपने सुना उसकी शानदार हसमुख चंचल सुंदर मिलनसार बड़ी ही गजब की हीरोइन थी कौन या साधना और डायरेक्टर थे बड़े ही गुणी डायरेक्टर आर के नैयर फिल्म 1960 में आई और उसके कुछ अरसे बाद साधना और आर के नैयर की शादी हो गई और उसके कुछ साल बाद साधना ने मुझे अपने पति के बारे में यूं बताया था उन्होंने तो शुरू से ही मेरी तारीफ के बुल पालने शुरू कर दिए थे जैसे मुझसे अच्छी कोई और एक्ट्रेस हो ही नहीं हाँ, तो क्या गलत कहा था नहीं है सर ने <laughs> अच्छा फिर क्या हुआ लेवन शिमला के बाद कुछ अरसे तो हम लोग बिल्कुल अलग रहे अच्छा झगड़ा हो गया था ओहो और फिर जो मिले तो शादी के अटूट बंधन में बंध गए हाँ भाई होना भी ऐसा ही चाहिए था अच्छा कुछ नये साहब की पर्सनैलिटी के बारे में बताइए सरना जी किस टाइप के आदमी है वो बड़े मस्त मनमोजी टाइप के आदमी है हम्म। बड़े ठाट बाट से रहते हैं वो अच्छी से अच्छी जगह रह चुके हैं कीमती से कीमती गाड़ी चला चुके हैं हम्म, हम्म। मगर पैसे की उन्हें बिल्कुल कदर नहीं अच्छा हजारों हो या लाखों या कुछ भी ना हो हाँ। उनके लिए सब बराबर है वैसे वो अपने आप पर कुछ खर्च नहीं करते हम्म। पैसे से ज्यादा उनकी नजर में इंसान की कीमत है आर के नैयर अब इस दुनिया में नहीं रहे और साधना है तो मगर कई वर्षों से नजर नहीं आई वो आंखों की बीमारी ने उस लाजवाब अदाकारा को गुमनामी की छाव में डाल दिया मगर मैं उनका दोस्त और उनका जबरदस्त फैन पहले उन्हें सलाम और हेलो कहता हूँ हेलो साधना और फिर बहनों भाइयों मैं गीत वाला की छाव में यूं बढ़ता हूँ आगे यूं एक ऐसा बड़ा प्यारा गीत आया था उस साल जिसमें मोहम्मद रफी के साथ साथ गीता दत्त ने गाया तो था ही मगर उन्होंने कुछ लफ्ज बोले भी थे याद है आपको वो गाना चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम क्या हो जो घटा खुल के बरसे झुम चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम कुछ क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम रुम झुम रुम झुम चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम कुछ हम कुछ तुम ಸಂಗ के कुछ क्या हो जब घटा फूल के बरसे रुन झुन रुन झुन कुछ हम कुछ कुछ हम कुछ तो बहनों और भाइयों उसके लिए हमें चलना पड़ेगा उस रास्ते पर जिस पर कहानियां सजी हुई होती हैं यानी समय का रास्ता नंबर पांच ये तो आप जानते ही हैं बहनों भाइयों कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो खुशी की कितनी लहरें दौड़ पड़ती हैं पूरे परिवार में इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं भी खुशी से फूला नहीं समाया मगर मुझे सिर्फ सुबह और फिर बड़ी देर में रात को अपने बेटे राजिल को देखने का मौका मिलता था क्योंकि भाई दिन भर मैं दफ्तर में रेडियो सिलोन के प्रोग्रामों में लगा रहता था न सिर्फ गीतमाला बल्कि कई और प्रोग्राम और फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी भी और जब रात को मैं घर लौटता ना तो मेरा बेटा अगर कभी जाग भी जाता तब भी मैं उसे अपनी बाहों में उठाता नहीं था क्योंकि बहुत डरता था मैं कि अरे इतना छोटा सा बच्चा है मैंने उसे ठीक से नहीं उठाया ठीक से नहीं पकड़ा तो कहीं उसकी गर्दन या उसकी कमर न लचक जाए ओ उसे तो सिर्फ रमा उठाती थी या मेरी अम्मा या फिर आया मगर जब रमा उसे फिर से प्यार से सुला देती थी तो मैं पास बैठकर माँ बेटे को मुस्कुराकर ताकता रहता था और मुझे यूं लगता था जैसे हवाओं में उस साल का ये खूबसूरत सा खामोश सा गीत हल्के से गूंज रहा हो कश्ती का खामोश सफर है शाम भी है तन्हाई भी दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी होती है लहरों की शहनाई भी आज मुझे कुछ कहना है आज मुझे कुछ कहना है लेकिन ये शर्मील निगाहें मुझको इजाजत दे तो कहूँ खुद मेरी देता उमंगे थोड़ी फुर्सत दे तो कहूँ आज मुझे कुछ कहना है आज मुझे कुछ कहना है जो कुछ तुमको तो कहते हुए डर सा लगता है कहकर बातन खो बैठू ये जो जरा सा साथ मिला है ये भी साथन खो बैठू कब से में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ यह भी चुको लगाए बैठी हूँ दिल ने दिल की बात समझ ली अब मुझे क्या कहना है आज नहीं तो कल कह लेंगे अब तो साथ ही रहना है भी चुको कह भी चुको छोड़ो अब क्या कहना है अच्छा भाई आप तो जानते ही हैं कि 1960 के साल को मैंने गीत माला की छाओं के लिए तीन वॉल्यूम्स में इसलिए ढाला था क्योंकि उस वर्ष बाप रे इतने ज्यादा लाजवाब गीत थे कि अगर उनका ठीक से जिक्र न होता तो भाई बड़ी नाइंसाफी होती अब देखिए ना एक फिल्म उस साल आई थी जिसका नाम था बरक जिसका सिर्फ एक गीत सालाना संगीत श्रेणी तक पहुंच पाया और दो गीत अब बजेंगे एक जरा कम और दूसरा काफी ज्यादा ये बंसी है ये बंसी क्यों गाए मुझे क्यों बताए ये प्यार सुनाए दूर न जाने का है मुझको बुलाए है बताए क्या दिन सुनाए दूर न गीत हमें बड़ी ही अच्छी क्वालिटी में भेजे थे हमारे कोलकाता के साथी अनूप गाडोडिया और कमल बेरीवाला ने और उसी फिल्म का एक और बड़ा सुहाना छाव वाला गीत हमें दिया है मुंबई के मोहन भंबानी साहब ने जरा सुनिए और झूमिए 1960 में जिसके दो छांव वाले गीत मैं यहाँ बजाना चाहता था बहनों भाइयों लेकिन उनमें से एक तो ऐसा धमाकेदार गीत है कि आज भी हर रेडियो स्टेशन पर साल में कई कई बार बजता है खासकर बरसातें शुरू होते ही होते ही यहाँ फिल्म बरसात की रात का गीत गरजत बरसत सावन आयो रे तो भाई वो तो बसा ही है आपके दिल में और अब तो एक लाइन मैंने भी गा दी इसलिए मैं वो गीत नहीं बजाऊंगा उस फिल्म का एक और बड़ा मधुर मगर दर्द के सुरों में डूबा हुआ गीत बजाऊंगा जो आप शायद भूल गए होंगे सुनिए दिल थाम कर मायूस तो हूँ तेरे कुछ आस नहीं कुछ आस भी है मैं अपने ख्यालों के सदते तू पास नहीं और पास भी है मायूस तो हूँ वादे से तेरे हमने तो खुशी मांगी थी मगर जो तूने दिया अच्छा ही दिया हमने तो खुशी मांगी थी मगर जो तूने दिया अच्छा ही दिया जिस गम को ताल्लुक हो तुझसे वो रास नहीं और रास भी है मैं अपने ख्यालों के सद पे तू पास नहीं और पास भी है मायूस तो हुआ से तेरे पलकों पे लरजते अशकों में तस्वीर झलकती है तेरी तस्वीर झलकती है तेरी पलकों पे लरजते अशकों में तस्वीर झलकती है तेरी दीदार की प्यासी आँखों को अब प्यास नहीं और प्यास भी है मैं अपने ख्यालों के सद पे तू पास नहीं और पास भी है मायूस तो हुआ जैसे तेरे लेकिन बहनों भाइयों मैंने जो आज वादा किया है आपको समय के अलग अलग रास्तों के बारे में बताने का उस वादे को देखिए मैं आज बड़ी ईमानदारी से निभा रहा हूँ और आज समय का छठा रास्ता है यही बहुरंगी बहुरूपी शब्द यानी आज देखिए ना आपके लिए तो आज यही दिन है जब आप ये वॉल्यूम सुन रहे हैं मगर भाई मेरे लिए आज वो दिन है जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी इस वॉल्यूम की रिकॉर्डिंग हुई है हो रही है बल्कि पांच जनवरी सन 2010 को और मेरे इस आज से कोई 21 रोज पहले 15 दिसंबर सन 2009 को जब सुबह मैंने भारत के एक बहुत ही बड़े न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज खोला तो देखकर दंग रह गया साहब दंग इसलिए रह गया बहनों भाइयों के उसमें इतने वर्षों के बाद श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी पुराने रेडियो सिलोन का जिक्र था जी हाँ और उसमें ये लिखा था कि किस तरह आज भी कोई खास स्पॉन्सरशिप या एडवर्टीजमेंट के बिना भी कैसे कुछ घंटों के लिए ही सही मगर बड़ी बाकायदगी से चल रहा है ये रेडियो स्टेशन जो कई वर्षों तक सारे एशिया में और अफ्रीका तक में भी धूम मचाता रहा था और जो दो लड़कियां उसे आज भी बड़ी हिम्मत से चलाए जा रही हैं वो हैं पद्मिनी परेरा और ज्योति परमार बनो भाई उस अखबार के एडिटोरियल में और भी कई लोगों के नाम थे जिन सब की खबर मैं आपको किसी अगले वॉल्यूम में दूंगा मगर उस लेख में खास तौर पर यह भी लिखा था कि रेडियो सिलोन का जो रेडियो प्रोग्राम लोकप्रियता की एकदम चोटी तक पहुंचा वो आपका यही प्रोग्राम था यानी गीत माला गीत तो भाई आपकी गीत माला तो करोड़ों संगीत प्रेमियों का प्यार पाती रही करीब 45 वर्षों तक मगर खुद गीत माला ने भी तो अपने सभी प्रेमियों को यानी आप सबको अपना दिल देकर आपको अपने नयनों में बसाया था ये देखिए उसका सबूत दे रहा है 1960 की छाव ही का एक बड़ा प्यारा गीत जिसकी भाषा हिंदी नहीं थी बल्कि थी हिंदी से मिलती जुलती रंग रंगीली राजस्थानी बहन और भाइयों आजकल के जो नौजवान फिल्म फैन है ना उन्हें तो फिफ्टीज और सिक्सटीज की ज्यादातर फिल्मों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती जिसकी वजह एक ये भी है कि वो फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी व्हाइट हुआ मगर साहब उनके गीतों में वो मिठास वो रोमांस वो लगन और वो रंगीनी भी हुआ करती थी कि आज की हसीनाएं भी उन्हें सुनकर कहती हैं हाय और आज के डैशिंग यंग मैन भी कहते हैं आई से हाउ क्यूट तो वही 1960 का एक ऐसा ही क्यूट क्यूट गाना अब आ रहा है आपके सामने हैं आपसे नैन लड़ाने और आपको बाहों में भर देने बात सजन चाहता है तेरी निगाहों में में रहने है तेरी निगाहों में के बस जाओ जी दिल ये हमारा घर है तुम्हारा आओ जी आके बस जाओ जी नैन हमारे देखे ख्वाब तुम्हारे जरा ख्वाबों में आके हंस जाओ जी जान से प्यारा हमें घर ये तुम्हारा यहाँ खुशी का बता तेरी बाहों में तेरी बाहों में रहने को दिल है तेरी बाहों में अच्छा खैर अब जरा प्यार से चलिए बहनों भाइयों माला के समय के उस रास्ते पर जिस पर आया करते हैं गीत माला की छाओ में सुनने वालों के खत समय का ये रास्ता नंबर सात वैसे हमारे इन वॉल्यूम में जरा कम आता है क्योंकि आजकल तो खत ढेर सारे आने लग गए हैं बनो भाई और टाइम हमारे पास होता है बहुत कम मगर एक बड़ा अनोखा खत डोम्बिवली के रविन्द्र त्रिम्बक सिन्नरकर ने ऐसा भेजा है कि मुझे इसे शामिल करना ही पड़ेगा साहब